कल्पना निमित्त पहला यह जीव जीवम कल्पयत पूर्व तत्व भावान पृथक विधान पहले जीव की कल्पना है तो जीव कल्पना का निमित्त कारण क्या है उसका निरूपण करते हैं अनिश्चिता यथा रज्जोरंधकारे विकल्पिता विकल्पिता

अंधकारे अनिश्चिता रज्जु अंधकारे अनिश्चिता रज्जु यथा सर्पधाराधि भाव विकल्पिता तद्वद आत्मा विकल्पित है अंधकार में रज्जु अनिश्चिता रज्जु यह है इसे निश्चित नहीं होने पर रज्जु के ज्ञान नहीं होने पर सर्पधारादि भी भावे ही विकल्पिता सर्प धारा जलधारा आदि से भू छिद्र दंड माला इत्यादि भाव ही पदार्थ ही रज्जु विकल्पिता अनिश्चित रज्जु तद्वद आत्मा विकल्पिता इसी प्रकार आत्मा अनिश्चित होकर के जीव प्राणादि भाव में विकल्पित श्लोक से तात्पर्य तुम वृत्तम कीर्तयति श्लोक का तात्पर्य दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार अतीत में जो कहा गया उसको पहले कहते हैं तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उत्तम सर्वासाम कल्पना न मूलम जीव कल्पना जीवम कल्पयत पूर्व जीव कल्पना के पश्चात अन्य कल्पना है शैव जीव कल्पना के निमित्ता साव जीव कल्पना जीव से कल्पना जीव कल्पना किम निमित्तम यहाँ कल्पना है ऐसा कल्पना किम निमित्ता उसका निमित्त क्या है जीव कल्पना का यह दृष्टान्त न प्रतिपादयती दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करते हैं आचार्य भगवान भाष्यकार के परम गो गौभकाचार्य टीका में पूर्व श्लोक सप्तम अर्थ तत्र जीव कल्पना तत्र पूर्व श्लोक पूर्व श्लोक में कहा गया जीव कल्पना सर्व कल्पना का मूल है जीव कल्पनाया नित्यत्वाएगा समीपत्व वक्तव्यवाद तस्य च वस्तु से निवृत्ति अनुपत्ति जीव कल्पना नित्य नहीं कर सकते यदि जीव कल्पना नित्य मानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी मोक्ष नहीं होगा मोक्ष के लिए शास्त्र का उपदेश है अनिर्मोक्षापत्ति प्रसंग जीव कल्पना नित्य नहीं अनित्य हो तो सन्निमित्व से वक्तव्यता निमित्त में सह वर्तते सन्निमित निमित्त होना चाहिए सन्निमित्व वक्तव्य तस् तो वस्तु यदि निमित्त वास्तव है तो फिर निवृत्त नहीं होगी है अवस्तुते यदि निमित्त अवास्तव है तो अवास्तव निमित्त से कार्य नहीं होगा से तो आशी है जो अवास्तव है वो निमित्त के कारण कैसे होगा अवास्तव वन्य गुंजापुंज कोई उसमें स्पर्श का कारण नहीं पाक का कारण बनेगा नहीं अवास्तव है निमित्त जिससे जीव कल्पना होती तो निमित्त ही नहीं होगा जीव यह दुर्घट हुआ ये पूर्व किसी का अभिप्राय है जीव कल्पना दुर्घट उसका उपादन नहीं कर सकते तब तो कार्यभूता कल्पना जो जीव कल्पना ही दुरुपादा उसका उपादन नहीं हो सकता है तो उसके कार्यभूत अन्य कल्पना न अवकल्पित न अवकल्पित संभव नहीं इसे आशंका पूर्व विशेष शंका करता है शरीर जीव कल्पना किम निमित्ता उत्तर श्लोकाक्षराणी अवतार्य व्याचष्ट इसके उत्तर से श्लोक के सब शब्द अवतरण करके व्याख्यान करते दृष्टान्त न प्रतिपादयती यथा लोके स्वयं रूपेण अनिश्चिता रज्जु स्वयं रूपेण अपना स्वरूप रज्जुत्व अनिश्चिता अनिश्चिता का तो अनवधारिता अवधारण निश्चय अनिश्चिता का अर्थ अनवधारिता एवं एवं एवं एव और ऐसा निश्चित जब नहीं है ऐसे रज्जु मंद अंधकार है अत्यंत अंधकार है तो रज्जु दिखेगी नहीं सर्प भ्रम नहीं होगा और प्रकाश पूरा है तो रज्जु ज्ञान हो जाएगा तो सर्प भ्रम नहीं होगा जहाँ मंद अंधकार है रज्जु दिखती है इदंत्यन किंतु रज्जु तेन ज्ञान नहीं तो किम सर्प उदगधारा दंड इतिवा अनेकथा विकल्पिता भगवती तो कोई सर्प कहता है कोई कहता है जल पानी चल रहा है जलधारा कोई कहता है दंड लठी कोई कहता है भूछिद्र कोई कहता है नाला अनेक धा अनेक प्रकार में विकल्पिता भगवती रज्जु पूर्व स्वरूपानिश्चय निमित्तम उसका निमित्त कारण स्वरूपानिश्चय रज्जु स्वरूप के अनिश्चय के कारण ही इसको कल्पित होती रज्जु ठीक है ना स्वयं असाधारणम रूपम रजुत्वम तेन आवत स्वप्न नहीं स्वयं असाधारणम स्वयं रूप अनिश्चिता तो स्वयं असाधारण रूपम रज्जु में असाधारण रूप है रजुत्व तेन रजुत्व न निश्चित स्वयं रूप ने कहा तो रजुत्व स्वयं स्वयं हो गया असाधारण रूप तेन असाधारण रूप रजुत्वम साधारणतः रज में इधम ईधनत्व तो, पृथ्वीत्व तो, ये तो साधारण है किंतु रज्जुत्व असाधारण रज्जु में ही अन्यत्र में तेन अनिश्चित अनवधारित्व में स्फुरेत स्पष्ट करते अनवधारित कैसा एवं एवं ऐसा निश्चय नहीं रज्जुरव यम इत अन्य प्रकार अर्थ एवं एव का अर्थ रज्जुरव यम ये रज्जु ही है ऐसे जब वो निश्चित नहीं है तब विकल्पित तो होती सर्पतार आदि उक्त अवधारण राहित्य कारणम सूचित ऐसा अवधारण निश्चय नहीं है निश्चय का अभाव में कारण कहते मंदा अंधकार मंदा अंधकार के कारण निश्चय नहीं होता पूर्व रज स्वरूप निश्चयाद प्राग अवस्था है नित्यर्थ भाष्य में दिया विकल्पिता भवती पूर्व स्वरूप निश्चय निमित्तम स्वरूप निश्चय निमित्तम पूर्व कहा पूर्व कहा तो रज स्वरूप निश्चय प्राग अवस्थायाम विकल्पित होती रज्जु स्वरूप निश्चय के पहले ही सर्पादि भी विकल्पिता रज्जु स्वरूप निश्चय हो जाए तो आगे कल्पना नहीं तो पूर्व का अर्थ तो रज्जु स्वरूप निश्चय की पूर्व अवस्था में विकल्पिता है सर्पादि कल्पनायाम अन्य व्यतिरिक सिद्धम उपादान उपनिष्यति सर्प आदि से भूषित जलधारा दंड आदि ये सब कल्पना में उपादानम उपादान कारण कथन करते हैं उपादान कारण का निश्चय अन्य व्यतिरिक सिद्धम अन्य व्यतिरिकाभ्याम सिद्धम जैसे तंतु पट का उपादान है तंतु सत्य पट सत्यम तंत्र भाव पटा भाव इसे अन्य व्यतिरिक के द्वारा सिद्ध होता है तंतु पट से उपादान ठीक इसी प्रकार सर्पादि कल्पना का उपादान कथन करते हैं स्वरूपा निश्चय निमित्त स्वरूप निश्चय निमित्त कल्पना का ये तदेव व्यतिरिक द्वारा विभिन्नति उसका व्यतिरिक अभाव कह करके विवरण स्पष्ट करते यदि पूर्व में वो रज्जु स्वरूप में निश्चिता सात न सर्पादि विकल्प भविष्य यदि रज्जु स्वरूप में निश्चित होती रजत्व में निश्चित होती रज्जुरेव यम तथा तो न सर्पादि विकल्प अभविष्य सर्पादि विकल्प नहीं होता यथा स्वहस्त अंगुल हस्तांगुल्यादिशु अपने हस्त अंगुल्यादि में निश्चय है उसमें सर्पादि भ्रम नहीं होता कभी क्योंकि निश्चय है ठीक है देवदत्त हस्तादि अवयवेशु तद्रूपेण निश्चितेशु कर्तादि विकल्प न उपलब्ध थे देवदत्त इस व्यक्ति के हस्तादि अवय में हस्तंगुल आदि अवय में निश्चय है तद्रूपेण हस्तत्व अंगुलित्व निश्चित है सु अवय उसमें सर्पादि विकल्प नहीं होता है कभी निश्चित हाथ है तथा पूर्ववर्तिनी अभी राज्य स्वरूप में निश्चित है पूर्ववर्तिनी यदि राज्य स्वरूप में निश्चित हो जाए नाशे युक्त कल्पना नहीं युक्त तथा तो रज्जु अज्ञानमेव अज्ञानादेव सभवती सर्पादि विकल्प रज्जु से ही होता है उपपादित दृष्टान्तम अनूद्य दाष्टातिक अभिदान चतुर्थ पादार्थम आह दृष्टान्त है रज्जु सर्प इसका अनुवाद करके दृष्टान्त के तद्वद आत्मा विकल्पित ये चतुर्थ पाद में कहा अभिदधान कथन करते हुए दृष्टान्त का कथन करते हुए भगवान भाष्यकर चतुर्थ पाद के अर्थ कह एस दृष्टान्त तद्वत हेतु फलादि संसार संसार धर्मानर्थ विलक्षणतया स्वयं विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता द्वरूपेण निश्चिता निश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदे आत्मा विकल्पित इतस सर्वोपनिषदा सिद्धांत ये दृष्टान्त रज सर्पादि हुआ तद्वद आत्मा विकल्पित हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षणतया हेतु फलादि संसार धर्म है कार्य कारण रूप कर्तृत्व रूप हेतु भक्तृत्व रूप फलादि संसार धर्म ये सब अनर्थ है इससे विलक्षण है आत्मा उसमें कोई अनर्थ नहीं उस रूप से आत्मा यदि निश्चित होता सेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वैरूपण विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता शुद्ध है विज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र है रूपेण अनिश्चित आत्मा इसे निश्चित नहीं होने से जीव प्राणादि अनंत भाव भेद ही विकल्पित होता है जीव प्राण <coughs> कर्तृत्व आदि अनंत भेद से विकल्पित होता है यही सर्वोपनिषदान सिद्धांत सब उपनिषद का ही सिद्धांत है टीका में हेतु फलादि इत्यादि शब्द में कर्तृत्व भक्तृत्व राग द्वेषादि ये सब लेना ये सिर्फ ये सब संसार धर्म है उससे विलक्षण है आत्मा उस धर्म से अस्पृष्ट शुद्ध स्वरूप है विलक्षण तमेव स्फुटयति विलक्षण तो स्पष्ट करते स्वयं विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वैरूप यही स्वरूप है रूप है विज्ञप्ति मात्र है इसका सत्ता शुद्ध स्वरूप है स्वयं का अर्थ अनारोपित है ना हेतु फल संसार धर्म सब आरोपित है स्वस्य रूपम अनारोपित रूप है विज्ञंति ज्ञान ही शुद्ध है विशुद्ध विज्ञंति विज्ञप्ति में विशुद्धत्व क्या है ठीक है विज्ञप्तेर विशुद्धत्व जन्मादिराहित्यम आकारांतर शून्यतम तन्मात्रत्म सहित विज्ञप्ति ज्ञान है शुद्ध क्या जन्मादिराहित घट ज्ञान पट ज्ञान ये शुद्ध नहीं घट ज्ञान में घट ज्ञान की उत्पत्ति है नाश है और आदि से आकार है घट आकार तो वृत्ति तो मुख्य ज्ञान नहीं गौण ज्ञान है जन्मादि राहित्य है तो शुद्धत्व आकारांतर शून्यत्व अन्य कोई आकार नहीं घट ज्ञान घटाकार पट ज्ञान पटाकार घटपट ज्ञान में भेद होता है विषय विषय विशिष्टत्व में ज्ञान का भेद होता है तो विषय आकार होकर के ही घट ज्ञान पट ज्ञान की उत्पत्ति नाश है तो शुद्ध नहीं कोई आकार नहीं है तो शुद्ध है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विशुद्ध विज्ञप्ति रूप साक्षी स्वरूप आत्मा शुद्ध आकार कोई आकार नहीं है निर्विशेष निराकार शुद्ध आत्मा जन्माग्रहितम आकारांतर शून्यतम तन्मात्र तो विज्ञप्ति मात्रत्म ज्ञान सत्य तो कोई स्वरूप नहीं सदरूप कहते हो ज्ञान सतृत नहीं ज्ञान ही सत्य सत चित आनंद एक रूप है अलग अलग धर्म सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्व ये सब धर्म विपरीत की व्यावृत्ति करने के लिए कहे जाते हैं सत्य कहते सत्य कहते असत्य व्यावृत्ति के लिए चित्त ज्ञान कहते जड़ की व्यावृत्ति के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम कहते परिच्छन की व्यावृत्ति के लिए ये व्यावर्त का धर्म है किंतु अर्थ एक है इसे तन मात्रतम तन मात्र उससे अतिरिक्त कुछ नहीं तब ये विशुद्ध होगा ज्ञान और ज्ञान में कुछ विषय विशिष्ट वैशिष्ट आ गया वृत्ति संबंध आ गया तो अशुद्ध हो गया और विज्ञप्ति विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता तन्मात्रत्व अयुतम फिर शंका करता है पूर्व आत्मा में केवल ज्ञान मात्रत्व कैसे होगा सामान्य विशेष भाव उसे सामान्य और विशेष विशेष जैसे बहुत घटों में एक सामान्य धर्म एक घटत्व बहुत गो में विशेष में खंड मुंड आदि गो व्यक्ति में अनेक व्यक्तियों में एक गोत्व ये सामान्य इसी प्रकार सामान्य विशेष धर्म है सामान्य होता है धर्म विशेष होता है धर्म सब ज्ञान में धर्म रहेगा ज्ञान से अपना धर्मी है धर्म धर्म रूप जहाँ सामान्य विशेष भाव है धर्म धर्म भाव है तो तन्मात्र कैसे होगा चिन्मात्र कैसे होगा इतिहास क्या विज्ञप्ति मात्र सत्ता वही अद्वितीय स्वरूप है सत्ता ही विज्ञप्ति मात्र है कोई इसमें धर्म नहीं तो तत्र अन्य व्यक्ति सुखम इति मत अभिष्णस्त उसमें कोई सुख रूप अन्य है ऐसा नहीं वही आनंद वही सत वही चीज है अन्य सुखम नहीं वो अध्यय रूप अध्यय कहन से अन्य धर्म कुछ नहीं सच्चिदानंदाध्य आत्मा विद्या विलसितम द्वैतम इतर प्रमाण सूचे सत चित आनंद अद्वैत्मा है सत ही चीत है चित ही आनंद है जो वास्तव सत है वही चीत है वही आनंद है मुख्य आनंद ही चित है ज्ञान वही ज्ञान ही रूप है एक ही अद्वय आत्मा तस्य अविद्या विलसितम तस्य अविद्या विलसितम द्वितम ऐसे शुद्ध जो आत्मा उसकी अविद्या से ही रचित है द्वैतम दिखता है द्वैतम अविद्या के कारण इसमें प्रमाण सूचयती भगवान का प्रमाण देते क्योंकि ये सब सर्वोपनिषदाम सिद्धांत कोई एक उपनिषद में सब उपनिषद का यही सिद्धांत है अद्वैत सुप्रस्तावत तत्र तत्र थे अद्वैत सूत्र एक दो का नाम नहीं दिया बहुत है यत्र ही द्वैतमिव भवती इत्यादि आश्च द्वैतमिव भवती तत्र इतर इतर पश्यते अन्य अन्य को देखता है सुनता जानता है द्वैतमिव द्वैत तत्प्रतिभासोर मिषात्व आवेदयते श्रुत श्रूयते द्वैत अद्वैत का भान ये दोनों मिथ्या है इसको ज्ञान कराने वाले श्रुति बहुत है तेना अद्वैतम सत्व द्वैतम अविद्या विजृंभितम प्रमाण सिद्धम उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है अद्वैत ही पारमार्थिक तत्व है द्वैतम अविद्या अविद्या का कार्य है यह श्रुति प्रमाण सिद्ध है अविद्याता जीवकल्पने अन्वय मुख्यन उत्तम जीवकल्पना अविद्याता अविद्या सबसे जीवकल्पना ये अन्वय के द्वारा कहा गया तदेव इधानी व्यतिरेक मुख्य ने दशे व्यतिरेक द्वारा दिखाते यदि अविद्या नहीं हो अति तो जीवकल्पना नहीं होती रज्जु अनिश्चित होने पर सर्प आदि विकल्प है ये अनिश्चित अज्ञान होने से ही कल्पना है

रज्जुदेवेऽपि यथा निश्चितायां रज्ज्वां रज्जुरेवेति विकल्पो रज्जुरेवेति च अद्वैतम विकल्प रज्जुरेवेति च अद्वैतम अद्वैत ही रहता है आत्मा विनिश्चय ऐसा आत्मा का आत्मा निश्चय होने पर सर्वकल्पना भी निवर्तते अद्वैतात्मा ही रहता है रज्जुरेवेति रज्जाम निश्चितायाम रज्जुरेव इस प्रकार रज्जाम निश्चितायाम उसको पहले रख देना रज्जुरेवेति रज्जाम निश्चितायाम पहले रज्जु के अज्ञान से सर्प विकल्प कहा गया रज्जु रेवेति जो रज्जु का निश्चय हो गया तब अज्ञान अनिवृत्त रज्जु के निश्चय से रज्जु अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान की निवृत्ति होने से से सर्पादि विकल्प सर्वथा निवर्तक अज्ञान से उत्पन्न हुआ सर्पादि विकल्प अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान उपादान के बिना सर्पादि विकल्प नहीं रहेगा सर्वथा निवर्तक रज्जु में अत्यंत अवशिष्य और केवल रज्जु रज्जु अद्वित सर्प जलधारा भूषित दंडादि बहुत विकल्प है किंतु अधिष्ठान रज्जु मात्र अद्वैत तद्वद आत्मनि श्रौत निश्चय हो यदा संपद्य आत्मा में जब निश्चय हो जाता है श्रौत श्रुति प्रमाण सिद्ध निश्चय श्रुति रयम श्रौत निश्चय श्रुति प्रमाण से निश्चय होता है अहम सिंह तथा सर्वस्व आत्मा विद्या कल्पित जीवादि विकल्प से व्यावृत्ते अद्वैतमेव आत्मतत्व परिशिष्य जितने कल्पना है सर्वस्व आत्मा अविद्या कल्पित है आत्मा के अविद्या से कल्पित है जीव प्राणादि भाव जीवादि विकल्प जीवादि विकल्प जितने हैं तो अविद्या भी कल्पित है जो अविद्या निवृत्ति हुई निश्चय होने पर तो अविद्याजन्य विकल्प की व्यावृत्ति हुई सर्व विकल्प की व्यावृत्ति होने पर अद्वैतमेव आत्मतत्व अद्वैत आत्मतत्व ही रहता है परिस्थिति तस्माद आत्मा अविद्या विजृंभिता जीव कल्पना अर्थ है आत्मा की अविद्या से विजृंभिता अविद्या का कार्य है जीव कल्पना ये सिद्ध है दृष्टान्त भागम व्याचस्ते निश्चितायाम रज्जुर्वेत निश्चितायाम यथा रज्जाम विकल्प विनिवर्तते ये दृष्टान्त भाग इसकी व्याख्या करते भगवान भाष्यकार रज्जुरेवेति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्त हो रज्जुरेवेति च अद्वैतम यथा ये दृष्टान्त भाव रज्जुरेवेति निश्चय निश्चय का भी स्वरूप रज्जुरेव और अद्वैत रहता है रज्जुरेव इति च अद्वैतम उभय तरह नहीं करते रज्जुरेव तो निश्चय रज्जुरेव रज्जु ही है एवकार अन्य नहीं रज्जु ही है रज्जु तो नहीं निश्चय संशय भी उभय कोटि रहन से रज्जु व सर्पो व ऐसा ज्ञान होता है तो रज्जु विषय का ज्ञान वहाँ भी है किंतु वो निश्चय नहीं क्योंकि रज्जु व सर्पो व रज्जु रेव ऐसा निश्चय नहीं ऐसा नहीं उनसे संशय ज्ञान निश्चय नहीं रज्जु रेव ऐसे ज्ञान नहीं और निश्चय होता है रजुत्व प्रकार का ज्ञान रजुत्व सर्पत्व उभय प्रकार का नहीं एक धर्मी नाना धर्म अवगाही ज्ञान हो तो संशय हो जाएगा यहाँ रज्जु रेव ऐसा निश्चय हो गया रजत्व ने निश्चय होने पर सर्व विकल्प निवृत्त हो सर्वेशा विकल्पा नाम निवृत्त सर्प भूक्षित धारा आदि सब विकल्प की निवृत्ति होने पर रज्जु रेवेति चाद्वैतम यथा अंत तो में रज्जु ही अद्वैत तत्व परिशिष्ट रहा इसी प्रकार तथा ठीक है तद्वद इत्यादि व्याकरण तद्वद भी निश्चय चतुर्थ है इसकी व्याख्या यहाँ से तथा नेति नेति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र गणित विज्ञान सूर्यालोक कृतात्म निश्चय नेत नेति ये श्रुति बृहदारण्य इति न इति न इति अन्य प्रकार जितने धर्म है सब का निषेध इति न इति न करके सर्व विशेष का निराकरण सर्व संसार धर्म रहित नेत नेत विपसा व्याप्तुम इच्छा विपसा काष्ण संबद्धुम दो बार नहीं सबको द्वारम द्वारा मतलब प्रति द्वारम गृहम गृहम प्रति गृहम सब घर को जाता देखियो द्वारम द्वार नेत नेति का कर जितने धर्म है संसार धर्म सब का निषेधिक सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र ये नेत नेति शास्त्र संसार धर्म शून्य प्रतिपादक आत्मा में कोई संसार धर्म नहीं सबका निषेध करता है नीति नीति इसी शास्त्र जनित विज्ञान नीति जिस शास्त्र से उपनिषद प्रमाण से ज्ञान होता है वो विज्ञान शास्त्र जनित विज्ञान और विज्ञान सूर्यालोक के समान है जिसे सूर्यालोक सुबंधकार को नष्ट कर देता है इस प्रकार ये विज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है इसलिए उसको सूर्यालोक है इसे सूर्यालोक का कृतात्म आत्मविनिश्चय इससे जो आत्मनिश्चय होता है जनित विज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति उसे अज्ञान की निवृत्ति होने से वो आत्मनिश्चय होता है आत्मेव इधम सर्वम ऐसा निश्चय सब तो आत्म ही ये भी सोचिए सांदोग्य अपूर्व अनपर्व अनंत बाह्य पूर्व उसका कारण नहीं पर उसका कारण अपर कार्य नहीं अंतर नहीं बाहर नहीं एक रस है ब्रह्मा चिद्रूप सदाभ्यंतर ही है बाह्य अभ्यंतराभ्याम सह बाहर अंतर से मिल कर एक अजन्म आत्म तत्व अजन्म अजर अमर अमृत अभय एक है अजर है जरा रही तो अमर और अमृत अमर है परिणाम रहित अमृत है न मिलते अमृत दोनों का भेद है न मिलते अमृत ऐसे बृहदारण्य के भाष्य में व्याख्या हुई अमर का परिणाम रहित जो अमृत कह करके मृत्यु का निषेध हो गया फिर अमर के अर्थ करेंगे न मिल जाते तो पुनरुति इसलिए अमर का अर्थ अपरिणाम और अमृत का अर्थ न मिल जाते अभय भय रहित एक एव अद्वय एक अद्वित आत्मा ऐसे निश्चय होता है ठीक है सर्वस्यापि संसारात्मनो धर्म से संसारात्मक धर्म से आत्मनि आरोपित ये संसार ही धर्म है आत्मा में आरोपित संसारात्मन संसार ही धर्म है आवेदकम ये संसार धर्म आत्मा में है ही नहीं असत्य उसका आवेदक ज्ञापक शास्त्र है कौन शास्त्र यह निषेध शास्त्र सबका निषेध करने वाले शास्त्र प्रमाण नेत तेन जनित विज्ञानमेव सूर्यालोक शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वही सूर्यालोक सत्कृतो यो अयम आत्म विनिश्चय सैव अद्वितीय शिष्य थे ये अद्वितीय आत्मा द्वितम पुनः सर्वमेव व्यावृतम सब निवृत्त हो जाता है सब द्वैत अज्ञान से ही रचित है अज्ञान का कार्य आत्मा के निश्चय होने पर अज्ञान निवृत्त होगा अज्ञान उपादान नष्ट होने पर सब कार्य नष्ट है आत्म विनिश्चय में वो विषय नष्टि आत्मा का विनिश्चय कैसा है कहते तो आत्मी वैदम सर्वम सब कुछ आत्मा है सर्वम इदम आत्मा एवं उत्ते है सर्वम आत्मा कहने से पूर्णत्म तत्व उचित वो तो आत्मा पूर्ण है सर्वम इदम आत्मीव पूर्णम इदम सब पूर्ण ही है पूर्व भाविना कारण संस्पर्श शून्य अपूर्व अपूर्व अनंतर अपूर्व अनत अनंतर श्रुति अपूर्व है अविद्यमान पूर्व यश्य पूर्व जिसका नहीं तो पूर्व होता है कारण कार्य में तो पूर्ववृत्तित्व कारणत्व पूर्व भवती तो पूर्वभावी कारणम पूर्व होने वाले कारण से रहित संस्पर्श शून्य कारण संस्पर्श रहित कारण है नहीं जिसका वह पूर्व है अर्थात उसका कारण नहीं और अनापर अपर होता है पीछे पश्चात होने पर होने वाला पश्चात हविना कारण के पीछे कार्य होता है तो कार्य में संबंध भी दूर कार्य संबंध रहित तो अनपर शब्द से कहा गया और अनंतर का तो अंतर रहित तो, अंतरम का तो छिद्रम तो शून्य छिद्र रहित तो अनंतर चिद एक रस चैतन्य एक रस कोई छिद्र नहीं अनंतर तस्व प्रत्यम अबाह्यत्व वो अबाह्य है बाह्य नहीं है बाह्य नहीं कहने से वो प्रत्येक आत्मा ही है जो सर्व आत्मा सर्व ब्रह्म वह प्रत्येक स्वयं प्रत्येक है तस्य प्रत्येक प्रत्येक आत्मा है इसलिए बाह्य नहीं अबाह्यम अबाह्यत्व मकार अबाह्यत्व विराम कार्य कारणाकृष्ट उभयकल्पनाधिष्ठान तथा अर्थांतरवाद इत्यादि कार्य कारण स्पष्टम कार्य कारण से असंबद्ध है उभय कल्पना अधिष्ठान क्यों कार्य और कारण दोनों कल्पना का अधिष्ठान है अपना और न कारण है कार्य तो नहीं कारण भी नहीं कारण तो विशिष्ट होता है माया विशिष्ट शुद्ध कारण नहीं कार्य कारण से असंबद्ध है शुद्ध उभय कल्पना का अधिष्ठान उनसे तब तो अर्थांतर तो आज कार्य कारण से अर्थांतर है शुद्ध है इसको कहा सबाय अभ्यंतर विशेषण त्रय कौटस्थ व्यवस्थापनार्थम अजर अमर अमृत ये तीन जो विशेषण दिया है जरा रहित परिणाम रहित तो, मृत्यु रहित तो, ये कूटस्थ आत्मा है आत्मा में कौटस्थ्य की व्यवस्थापना करना कौटस्थ्य की व्यवस्था कौटस्थ्य का व्यवस्थापन व्यवस्थापन करने के लिए ही ये तीन विशेषण दिया अजर अमर अमृत अजर अमर अमृत जन्मादि संबंध अभाव कारण अविद्या संबंध रहित आत्मा में जन्मादि का संबंध क्यों नहीं उसका कारण अविद्या संबंध रहित अविद्या का संबंध हो तो जन्मादि होगा अविद्या संबंध नहीं इसको दिखाते अभयम भय रहित भय तो अविद्या के कारण अविद्या नहीं तो भय नहीं अभय न खोलो अविद्या तो कारण संबंधम अनुभव कारण के न विद्या संबंध का अनुभव करेगी आत्मा में नहीं तस्य न कारण अनपेक्षित आत्मा पूर्ण है कारण की अपेक्षा नहीं अविद्या की अपेक्षा नहीं पूर्ण है इसलिए कहा एक एवं अद्वय द्वैताद्वैत व्यावृत्यर्थम अवधारणम कोई कहते एक अद्वैत है और द्वैत भी है द्वैत भी है और अद्वैत भी है द्वैताद्वैत तो। द्वैत भी सत्य अद्वैत भी सत्य ऐसे भेदाभेद द्वैताद्वैत तो, विशिष्टाद्वैत तो विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं उसकी व्यावृत्ति करने के लिए एक एव एक एक ही है अनेक भी उभय नहीं एक एव अवधान एवकार ननु अविद्या निराश्रयत्वानुपत्ते निराश्रयत्वानुपत्ते अविद्या से निराश्रय नहीं हो सकती किसी में आश्रित होने होनी है आश्रय अंतर से असत्व आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय ही नहीं तत्व सा प्रविशति चेत तो फिर अविद्या आत्मा में ही आश्रिता है तो आत्मा में ही प्रविष्ट होगी अविद्या यदि चेत यहाँ का शंका होने पर सिद्धांति कहता है सत्यम अविद्या दृष्टिया तस्या सत्र प्रवेश अविद्या तो अविद्या दृष्टिया है अविद्या कोई पारमार्थिक नहीं जो अविद्या अज्ञानी की दृष्टि से अविद्या है अविद्या का आश्रय कहाँ है तो आत्मा क्या है आत्मा ही कहना पड़ेगा आत्मा सत्य तो कोई नहीं तो आत्मा में ही अविद्या आश्रित है उसमें प्रविष्ट है निवृत्त हो गया तो आत्मरूप हो गई वस्तु दृष्टिया नासु तस्वीर तुम प्रभवती वास्तव दृष्टि से अविद्या उसमें आत्मा में प्रवेश करेगी अविद्या कोई वस्तु नहीं तो प्रवेश क्या है इसलिए कहा अद्वय अविद्यमान द्वय दूसरा है ही नहीं अद्वय तो यहाँ अजर अमर अमृत अभय एक अद्वय स्थिति में जरा रहित अजर का अमर अपरिणाम अमृत का अर्थ मृत्यु रहित तो मृत्यु रहित है तो मृत्यु किसको कहा यहाँ कहा काम कर्म मोहादि मृत्यु रूप से रहित अमृत का अर्थ किया अमृत का अर्थ किया काम कर्म मोहादि मृत्यु रूप से रहित काम कर्म मोहादि मृत्यु है उससे रहित और अमर को अपरिणामी कहीं कहा और न मिले तो ऐसा अमर भी कह दिया तो अमृत का से जो मृत्यु रहित है ये मृत्यु कौन सा मृत्यु लेना काम कर्म मोहादि काम कर्म महादि रूप मृत्यु से वर्जित है अमृत और अमर का अर्थ परिणाम रहित नाम रियती अमर ऐसे आत्मनो अद्वितीयते कथम अनेके भावे तस्य विकल्पितत्व अभिप्राय प्रतिपत्त प्रत्यवतिषते प्रतिकूल अवतिषते पूर्व पक्षी प्रतिकूल विरुद्ध करके खड़ा होता है आत्मनो अद्वितीय यदि आत्मा अद्वितीय है उसका अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कथम अनेक भावी तस्य विकल्पित अनेक घट शराब बनाने के लिए कुलाल को कितने उपादान संग्रह करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है सामग्री चाहिए दंड चक्र आदि घट बनता है अद्वितीय आत्मा उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं तो इस आत्मा अनेक पदार्थ से विकल्पित कैसे हुआ शुद्ध आत्मा कुछ आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं और सारा जगत कितने सौ पदार्थ दिखते हैं कैसे विकल्पित है इस अभिप्राय प्रतिपत्तिया सिद्धांति का अभिप्राय के अज्ञान से पूर्व पक्षी प्रतिकूल अवतिष्ठते प्राणादिभिरनन्त भावैरेतैर्विकल्पितः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः

अद्वित आत्मा कह तो इतने पदार्थ से आत्मा विकल्पित है प्राणादि भी अनंत भाव ही विकल्पित है ये कैसे संभव है ये आक्षेप है सिद्धांति कहता है ऐसा तस्य देवस्य माया यही परमात्मा की माया है आत्मदेव से माया ये या सम्मोहित स्वयं जिसके द्वारा स्वयं मोहित स्वयं मोहित पारमार्थिक नहीं माया से मोहित तो वास्तव मोहित नहीं ये या माया स्वयं सम्मोहित स्वयं मोहित है तो मोहित माया से मोहित कम से वास्तव मोहित नहीं इसलिए भगवान भाष्यकार कहेंगे मोहित ही माया से मोहित वास्तव नहीं है माया से मोहित कम से मोहित ही वो अज्ञान की दृष्टि से मोहित जैसे टीका में सिद्धांति स्वाभिसंधि उद्घाटन उत्तर माह अपने अभिप्राय प्रकट करते ही कहते माया ऐसा तस्वीर यही कारण है विकल्प नहीं चौद्य भागम विभजते पहले पूर्वार्ध चौद्य है पूर्वपक्षी का उसका व्याख्यान करते भाष्य में यदि आत्मिक निश्चय कथम प्राणादिर अनंतर भावे रेत ही संसार लक्षण विकल्पित व्याख्या है आत्मा एक ही इसे निश्चय है सिद्धांत सौ तो सिद्धांत है तो वह प्राणादि अनंत पदार्थ से ये तो संसार लक्षण से विकल्पित कैसे होता है एक आत्मा सत्य तो कुछ नहीं फिर ये कल्पना कहीं से होगी उत्तरार्धम उत्तरत्व दया व्याकरण ये पूर्वार्ध हो गया आक्षेप उत्तरार्ध है उसका उत्तर इस रूप से व्याख्यान करते भगवान आक्षेकार उच्यते श्रेणु माये सा तस्य आत्मनो देवस्य आत्मा ही देव है उसकी ही माया है ठीक है माया में वो दृष्टान्त में स्पष्ट है माया कैसे दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं जैसा माया बिना विहिता माया माया भी जादूगर माया बनाता है बना कर दिखाता है गगनम अति विमलम कुसुमित ही सफल पलासी तरुभिराकिन्नम एवं करो अति शुद्ध आकाशे अति विमलम गगनम आकाश को लेकर देखते शुद्ध है जादू बनाता है जादूगर तो के वृक्ष खड़ा कर देता है कुसुमित ही सफल पलासी तरुभीर तरु भी एक नहीं कितने वृक्ष दिखने लगे जिसमें फल फला से पत्र कुसुम है पुष्प फल पुष्प पत्र से भरे है तरु से आके भरा दिखता है दिखते समय बहुत पेड़ दिखने लगे फूल फल पत्र से भरा ऐसे जादू बना देता है तथा तो यम अपनी देव से माया यह भी देव आत्मदेव की माया ठीक है ताम एवं माया कार्य द्वारा स्प्रेक इस माया को कार्य कथन के द्वारा स्मरण स्पष्ट करते हैं यया अयम स्वयमपि मोहित मोहित भवति ययायम स्वयमपि मोहित यया सम्मोहित स्वयं या ययायम मोहित स्वयं ऐसे कहीं पाठ है भाष्य कार्य के अनुसार ययायम मोहित स्वयं ययायम स्वयमपि मोहित वस्तुतः माया से मोहित होने से मोहित कैसे होगा माया से मोहित तो यया माया स्वयं मोहित माया से मोहित का अर्थ मोहित इव ये अर्थ स्पष्ट है यया माया मोहित माया से मोहित है वास्तव नहीं इसका अर्थ करते स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार मोहित इव मोहित भवत और भगवान गीता में कहते दैव हेसा गुणमयी मम माया दुरतया ये मेरी माया है गुणमयी देव से ये मित्र दैव दुरतया उसको अतिक्रम करना बड़ा कठिन है महामेरे ये प्रपद्यंते माया में अंतरंत परमात्मा ज्ञान से माया को पार हो सकते ये माया से ही सब कल्पना है वास्तव कल्पना नहीं टीका में यथा लौकिक मोहित मोह दृश्य दृश्यते मोहित कोई मोह से दिखता है तथा अयम आत्मा स्वयं एवं माया संबंधात मोहित होते माया के संबंध से मोहित जैसे हो जाता है अतः मोह द्वारा आत्मनिर्भ माया अधिगति मोह है कार्य भ्रम उसके द्वारा उसके कारण आत्मा में माया का ज्ञान होता है कारण नहीं हो तो प्रपंच भ्रम नहीं होता नेह नानासी किंचन श्रुति कहते अद्वितीय एकमेव अद्वितीय फिर भी प्रपंच दिखता है अनेक पदार्थ दिखते हैं तो उसका कारण मोह का कारण माया माया मोह तुम भगवता भी सूचित नहीं मिता भगवान ने भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहा माया ही मोह का हेतु ही मम माया दूरत्या कहा गया ते के प्राणादे अनंता भावा ये भी आत्मा विकल्प्यते माया इतपेक्षायाम प्राणादि विकल्पानाम उदाहरण विकल्पान प्राणादि विकल्पनाम उदाहरती प्राणादि विकल्पनाम उदाहरती वो प्राणादि अनंत भाव पदार्थ कौन है कहते प्राणादि अनंत भाव अनंत पदार्थ तो क्या है जिनके द्वारा आत्मा विकल्पित जिससे आत्मा विकल्पित है प्राणादि कल्पना है वो अनंत पदार्थ क्या है माया से विकल्पित आत्मा इस अपेक्षा होने पर प्राणादि विकल्प नाम प्राणादि जो कल्पना है उसका उदाहरण देते आचार्य गोडपाद से प्राण इति प्राण विदो भूतानी च गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानि इति प्राणदिवि प्राण प्राण उपासक हिरण्य गर्भ उपासक कहते प्राण इति ये प्राणी सब कुछ है जगत का कारण भूतानि की तद्विद तो भूत मानने वाले चार ही भूत मानते लोकायतिक चार बार जो प्रत्यक्ष केवल प्रमाण मानते हैं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता तो आकाश कोई भूत नहीं पृथ्वी जल तेज चार भूत ही कारण है ये लोका है तो चार वाक लोग कहते और गुणा इति गुणविद गुणविद गुणा इति गुण ही तत्व ही कहते वही जगत का कारण सत्तरजतम कांक्य लोग कहते गुणा इति गुण सत्तरजतम तीन गुण है यही जगत का कारण तत्वानीति से तद्विद और कुछ तत्व कहते तीन तत्व है एक आत्मा एक अज्ञान और एक शिव आत्मा अविद्या शिव तीन तत्व शैव लोग कहते विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं टीका में प्राणो हिरण्य गर्भ तटस्थ ईश्वर वा प्राण शब्द से हिरण्य गर्भ लेना अर्थात तटस्थ ईश्वर अपन से भिन्न स जगत हेतु रीति प्राणविद प्राण उपासक कहते जगत का हेतु हिरण्य गर्भाद्या वैशेषिक आदेश से तो कल्पयंत हिरण्य गर्भ से इमित हिरण्य गर्भा हिरण्य गर्भ होता से और तटस्थ ईश्वर कहने वाले वैशेषिक नायक लोग कहते हैं जीव से भिन्न अलग तदिदम कल्पना मात्र ये सब कहते ये कल्पना केवल है वास्तव नहीं स्वतंत्र से हिरण्य गर्भ से सर्वजगत हेतु माना भवा स्वतंत्र कोई हिरण्य गर्भ संपूर्ण जगत का कारण है इसमें प्रमाण नहीं हिरण्य गर्भ तो उपाधि के होकर बनता है स्वतंत्र हिरण्य गर्भ ही जगत का है ईश्वर के अधीन हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति उसके बाद जगत का निर्माण करता है हिरण्य गर्भ ये तो ठीक है स्वतंत्र कोई ही प्रमाण नहीं और प्रमाण कहेंगे आगम प्रमाण हिरण्य गर्भ उपास कुछ कुछ अपने शास्त्र बनाए बनाते हैं तो पौरुष आगम से अपूर्व से देशार्थ मानक युगात आगम होता पौरुषे पुरुष के द्वारा रचित है पौरुषे अश्रुति अपौरुषे श्रुति में पौरुषे तो नहीं पुरुष कर्तृकत्व तो नहीं इसलिए जहाँ पौरुषत्व है पुरुष कर्तृकत्व है उसमें अप्रमाण शंका अवश्य होगी भ्रम विप्रलिष्ठा भ्रम होने के लिए कर्णापाटव कर्णपटु नहीं भ्रम हो सकता है और भ्रम नहीं यथार्थ ज्ञान है किंतु दूसरे को ठगने के लिए कुछ कविता था पुरुष ये सब पौरुष वाक्य में संशय है श्रुति अपौरुष होने के कारण पौरुष वाक्य में जो संशय की हेतु है भ्रम विप्रय शाब्दी उसमें नहीं होने से श्रुति सत्य प्रमाण होने है इसलिए पौरुष आगम के साथ श्रुति का यदि विरोध हो गया तो कोई भी स्मृति हो श्रुति के विरुद्ध हो गया और त्यक्त गया कुमार भट्ट ने श्लोक वार्तिका में विचार करके स्पष्ट कर दिया यदि श्रुति के विरुद्ध हुआ स्मृति दिया स्मृति अप्रमाण है श्रुति के अनुकूल स्मृति प्रमाण है अपौरुष श्रुति विरुद्ध है स्वार्थ मान पड़ेगा जैसे आगम है सार्थ में प्रमाण नहीं अब मुनि ने रचना की तो उसका व्यर्थ वो व्यर्थ कैसे होगा तो उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा स्वार्थ में प्रमाण नहीं उसका कुछ अन्य अभिप्राय है स्मृति में कुछ कही गई तो उसका कुछ अभिप्राय दूसरा है सार्थ माना नहीं तटस्थ ईश्वरवाद से तो प्रमाण युक्ति विहीन से प्रतिपत्तम अशक्यता और तटस्थ ईश्वर अलग ईश्वर उसमें प्रमाण होना चाहिए युक्ति होनी चाहिए प्रमाण शुक्ति से प्रमाण युक्ति गीता में कहा क्षेत्र के हम चापी हम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत और हम ब्रह्मास्म इत्यादि अद्वैत है आत्मा ही ब्रह्म है क्षेत्र के ही मैं हूँ सर्वत्र ना तो अन्योस्थित दृष्टा श्रोता मनता कोई आत्मा से अतिरिक्त दृष्टा श्रोता मनता दूसरा है ही नहीं तो अलग कैसे दृष्टा होगा तटस्थ ईश्वर जीव से भिन्न अत्यंत कैसे होगा ये सब तो प्रमाण विरुद्ध होने से नहीं मान सकते ये प्रतिपत्त मशक्यता अश्रुति प्रमाण से विरुद्ध होने से अन्य आगम प्रमाणों को नहीं मान सकते कल्पनांतरम दर्शयती दो कल्पना है प्राण इति प्राणविद एक कल्पना होगी दूसरा है भूतान तद्विद और चार पाद में चार प्रकार की कल्पना द्वितीय पाद में भूतान की पृथ्वी अब तेज वायु वायव तत्वानी तो चार कहानी तो चतारी भूतानी चार भूत जगत कारणानी तो लोकायती कहा चार वाक लोक लौकिक दृष्टि को लेकर के जो दिखता है वही का वही सत्य तो सभी कल्पना मात्र केवल कल्पना है कल्पना करने के लिए कोई आपत्ति नहीं वास्तव नहीं नहीं भूतानी सत्य सिद्धानी भूत कारण है जगत कारण तो भूत कैसे सिद्ध होंगे सत सिद्ध नहीं होंगे तो जड़ है जड़ के विरोध तो जड़ भूत की सिद्धि ना भी परत है भूत सकृत की सिद्ध है जो तो भूत में एक गुण उत्पन्न होता है कहते चैतन्य नाम का तो वही चैतन्य से भूत सिद्ध होंगे यदि चैतन्य भूतों का गुण है स्वगुण से चैतन्य स्वगुण भूतों का गुण चैतन्य वह चैतन्य स्वग्राहक होगा तो चैतन्य स्वग्राहक नहीं होगा स्वगुण से चैतन्य स्वगुण है भूतों का गुण चैतन्य तो चैतन्य विशिष्ट हो गया भूत चैतन्य विशिष्ट भूत यदि चैतन्य ग्राह्य हो भूत हो गए चैतन्य विशिष्ट चैतन्य विशिष्ट भूत का ग्रहण करने वाले उनको प्रकाश करने वाले कौन है सिद्धि करने वाले प्रकाश करने वाले भूत किसके द्वारा सिद्ध होता है उसका उत्तर देंगे भूतों का गुण चैतन्य के द्वारा भूतों का गुण कौन से भूत चैतन्य विशिष्ट है गुण विशिष्ट है गुण को छोड़ करके तो गुण नहीं रहेगा तो भूत चैतन्य विशिष्ट है चैतन्य विशिष्ट भूतों की सिद्धि प्रकाश किसके द्वारा यदि चैतन्य के द्वारा कहेंगे तो चैतन्य के द्वारा चैतन्य विशिष्ट भूतों का ग्रहण ज्ञान प्रकाश चैतन्य विशिष्ट भूत होगा चैतन्य के द्वारा ग्रहण कहेंगे तो चैतन्य के द्वारा चैतन्य ग्रहण होगा चैतन्य के द्वारा चैतन्य ग्रहण कहेंगे तो स्व में चैतन्य में ग्राह्य तो और ग्राहक तो कर्तिकर्म विरोध है इसलिए स्व गुण से चैतन्य से तो नहीं हो सकता है जिस प्रकार वन्य का प्रश्न से वन्य विषय प्रदर्शन वन्य में औष्ण्य है वो औष्ण्य अन्य को गर्म करता है अपने औष्ण्य को नहीं करता है वन्य विषय प्रदर्शनार्थ इसलिए चैतन्य स्वग्राहक नहीं उनसे चैतन्य विशुद्ध भूतों का ग्राहक चैतन्य ये नहीं हो सकता है तो सिद्धि कैसे होगी अतः तो भूतान जगत कर्तनीति कल्पना आयो कल्पना ये वास्तव नहीं ये दो होगी तृतीय होगी गुणा इति गुणविता सत्य रज समान सी त्रय गुण तीन गुण है साम्य न अवस्थित जगत तो कारणम जगत के महदादि लक्षण पहले प्रकृति से प्रधान से महत्व तो बुद्धि जैसे अहंकार तन्मात्रा मात्रा यदि उत्पत्ति मानते हैं तथा तो भी कल्पना मात्रा कल्पना है वो तत्व नहीं साम्य में स्थितान कारण थे तीन गुण साम्य अवस्था में होकर के जगत का कारण कहेंगे तो फिर प्रलय कैसे होगा प्रलय भाव प्रसंग वैषम्य कैसे होगा वैषम्य भजन से तो निर्हित व्यक्ति यदि वैषम्य होने पर प्रलय होता है तो बिना कारण वैषम्य होता है या किस कारण से बिना कारण यदि वैषम्य हो जाए तो निधेतु के कारण नहीं तो सदा ही हो जाए सदा सदा पाता हमेशा वैषम्य हो जाए तो हमेशा प्रलय हो जाए सृष्टि नहीं होगी और सहेतु को कहेंगे वैषम्य का हेतु नित्य है अथवा अनित्य है सहेतु कहते हेतु नित्य थे हेतु नित्य है तो हमेशा ही होगा ये प्राचीन दोष अनुसंग प्राचीन दोष है निधेतु को मानने पर जो दोष है सहेतु को मानकर हेतु को नित्य मानेंगे हेतु नित्य है तो हमेशा ही होगा वही दोष है हमेशा ही वैषम्य होगा प्रलय होगा सृष्टि नहीं होगी हेतु जो अनित्य है वैषम्य होने का हेतु अनित्य है अनित्य है तो इसका भी कोई नियामक क्योंकि ये नियाम का अधिभावान नाम क्वचित कर्तम इच्छत उसका नियाम को तो उसका भी हेतु वो जो हेतु है वो भी नित्य होगा तो हमेशा कार्य आपत्ति अनित्य हो तो उसका भी हेतु हेतु अंतर पैसा मनोवस्थान इत्या गुणा इति गुणा विदेश कहते हैं और अन्य कल्पना कहते कल्पनांतर में तत्वानिति चतद्रीत तत्व कहते माया अविद्या शिव एक माया नहीं आत्मा अविद्या शिव इति संक्षेपक तीन तत्वा सर्व जगत संपूर्ण जगत का कारण इसे शैवा मनते शिव शैमी शैवा उपासक तद भी कल्पना मात्र कल्पना है वो आत्मनो भिन्न शिव से वो शिव आत्मा से भिन्न है अथवा भिन्न है यदि भिन्न कहेंगे आत्मा से भिन्न अनात्मा है घटाधिपत अनात्मा हो जाएगा घटाधि तुल्य तो प्रसंग आता और अभिन्न है यदि आत्मा से अभिन्न है तो तत्वानंतरित तो बैठा था एक शिव है और एक आत्मा है दो कैसे होंगे यदि अभिनय आत्मा अविद्या शिव यदि शिव आत्मा से अभिन्न है तो तीन कैसे हुए तृत्व बैठा था इस प्रकार की कल्पना है ओ भद्रम कर्णे भी देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा देवैनं सुष्वभागुं सत्सनुदेवदेवहितं जगायुः स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्टलीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति